पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधि क्या है कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन चंद सोर एक गहल्याओ चंद कहते हैं इसको एक तरफ है चंद ये तो चांद है जो कि बाया नाक और इधर का गर्म है इसको सूर्य कहते हैं कद चंद सोर एक घर लाओ और सुष्मण सेती ध्यान लगाओ त्रिवेणी को चंद समावो बावर बावर उतर चल पा रहा है वहां से पार हो जाओगे ये योगियों का मार्ग बताते हैं भाई घंटा शंख सुनो धुन दोई सहस कमल दल जगमग होई सैंस कमल में घंटा और शंख यानी ये काल के बाजों से दोनों अरिशन सुन कन्यों का हो गए मुक्त रे वाह मेरे शेर कहते घंटा शंख सुनो धुन दोई सहस कमल दल जगमग होई झिलमिल झिलमिल हो रही से और भाई मत करता निरख निरख ही बंक नौल दस पारा उसमें ओए भगवान से तामद करता निरख सोही सहसरार सहसरार कमल मतलब में निरंजन भगवान से करता है इक्कीस ब्रमण तई का करता है फिर कहें भाई डाकनी साकनी बहु कलकारे जमकिंकर दूत हंकारे सत नाम सुन बाजे सारे जब सतगुरु नाम उचारा है कहते हैं जो बेमुखियों आ जाएंगे ना सही नाम नहीं होगा जिनके पास सत नाम नहीं है सतगुरु का नाम नहीं है तो उनने ये खा जाएंगे डाकनी शाकनी नु डरा कर कड़जा पैट देंगे अर्जान जानो के सतगुरु का सही नाम होगा उन्हें सुनते नु डांक ठोक देंगी आड़ा नहीं खड़ा रहता भूतनी शूतनी डाकनी शाकनी टोई भी नहीं पाती महाराज के बिना झाड़े जपटे बाजे तो तो उस नाम में इतनी शक्ति है बंदी छोड़ गरीबदास जी की कबीर साहब के जो सत नाम है और जब सतगुरु नाम उच्चारा है और अपना नाम सुमरण करते ही सांस के द्वारा न गोली हो जाए सॉरी इतनी दूर खड़ी पाऊंगी और बाकी यहाँ बक्कल तारे गेर कहते योगी हो चाहे बिना योगी हो कहते हैं गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया नीचे उर्दमुख है नीचे नमो मुंह वाली कुईस है भाई गगन मंडल यह सारी उर्दमुख है ऊपर तो लेकर तले तो सारे नीचे नमो से इसका ऊपर तो शुरू हुआ से और जैसे आपने देखा सारे तले नाते जा रहे हैं गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया गुरुमुख साधु भर पिया नोगरे प्यासे रहे बिन किया जाके ही अंधियारा है गुरुमुख जिन नाम ले रखे पूरे गुरु ते उन्नता भर भर का अपना नाम राम रस पिया और जो नुगरे थे वह बिना करे बिना नाम लिए कैसे मर गए जिनके ही अंधियारा है यानी जिनको अज्ञानता है भाई त्रिकुटी मैल बिच त्रिकुटी महल में विद्या सारा त्रिकुटी में पहुंचने के बाद चांदना हो जाता ऊपर की सूजन लाग जाए जब तक कन कमलते जाप करें है इतना नहीं सूझता और गन हर गर्दे बाज नंगारा लाल वरण सूरज उजियारा चतुर कमल मंझर मंझार शब्द ओंकारा है अब एक तो ओंकार जाप निरंजन का ब्रह्माते ही का अब दूसरा जाप जो सवम का ही वो इस निरंजन के आखिरी मंडल तक ले जाएगा लेकिन पार नहीं कर सकता जैसे वहां तक समुद्र तक तो कार में चले जाओ रेल में चले जाओ किस साधन से जाओ पर आगे जो समुद्र पार करना हो कोई और साधन होगा भाई साध सो ही जिन यो पदलीन नौ दरवाजे प्रगट चीना वही दस नौ दर महाराज के नौ दर मुंद भी सुन है नौ दरवाजे ये आंख कान ये सब सुराख है ये नौ दरवाजे हैं और जहां कुलफ हा मारा नौ दरवाजे गट चिन्ह दसवा खोल जहां जिन दीन्हा तहा कुल पर आगे ने होकर नरेंद्र ने ताला जोड़ जड़ रखा है जो कि दसवा अब ये तो दसवा मानते हैं त्रिकुटी ने और सुषमणा पार करते हैं महाराज के असली दसवा द्वार वहां से जहां निरंजन ने रोके बैठा ताला ला रखा और वो ताला खुला सतनाम तय बंदी छोड़ दे सहवा वाचा भी और खोल कर निरंजन के सिर पर पांच रखा हमारा अंश जाते हैं आगे सेत सुन है भाई और मान सरोवर पंथ अन्हाई अनसन मिल हंसा हो, हो जाही सो अम करें अमी आहारा है आगे फिर मान सरोवर से भाई उसमें आपस में मिलकर जब जीव आपस में हंसा तो मिलकर हंस हो जाते मान सरोवर में नहाए पाछे सात माँ का उजियारा सोलह सूर्य जितना हो जैसे इतना तेज सतगुरु महाराज ने बताया किंगरी सारंग बाजे सतारा अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा और द्वादश बानो हंस उजियारा दल कमल मंजहारा मंजहार शब्द रंकारा है ऊपर फिर कमल शुरू होते हैं कोई दल का है कोई अठ अष्ट कमल दल है ऊपर ले जो कमल चल पड़े निरंजन तबार महासोन सिंध बिखमी घाटी बिन सत गुरु पावनी घाटी बाटी बाटी कहे रान आगे कहे फिर महासुन आवे है जो महासुन पार करके फिर जो है ना भवर गुफा और अष्टकमल दल और फिर सतलोक वैसा कुछ सारा वर्णन आपको सुनेंगे महासुन सिंध बिखमी घाटी बिन सुत गुरुपा व ना बाटी व्याग्र सिंह सर्प वो काटी ता सहज अचिंत पसारा है ये सहज का लोक आ जाता है अचिंत का कि वहां से फिर ये सब सौदे आपने मिलेंगे नाम वाले को तो ये ना सर्प काटे ना कुछ और बाकिया ने उल्टे बजा दे अष्ट कमल दल पर ब्रह्म भाई अब जो अक्सर पुरुष है ये अष्ट कमल दल में आ जाता है आगे अष्ट कमल दल एक और है अष्ट कमल दल पर ब्रह्म भाई और दैन्य दवा दस अचिंत रहाई और बामे दस दल दस दल सहज समाही यो कमल निर्वारा है इस प्रकार ने कई उन कमलों को फिर हमने निवारा किया निर्वार किया इनका निर्णय किया और पांच ब्रह्म पांच अंडबिनो और पंच ब्रह्मी अक्षर चिन्ह ये पांचों ब्रह्म से जैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर माता और निरंजन ये पांचों ब्रह्म हैं और पांचों इनके अंड हैं पांच अंड अलग अलग से हैं लेकिन एक अंड में ये पूर्ण रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश अठासी हजार खेड़े तैतीस करोड़ देवता अष्टकुली पर्वत अठारह बार मरमाला ये बहुत वर्णन दे रखा बंदी छोड़ पांचों ब्रह्म पांचों अंड बीनो और पंच ब्रह्मी अक्षर चिन्हो चार मुकाम गुप्त धाक की नौ जामद बंदीवान पुरुष दरबारा है के पांच गुप्त और रखे हैं जिसके अंदर बंदीवान कहते हैं जो ईश्वरीय शक्ति को पाने के अधिकारी हैं दो पर्वत के चंद निहारो भंवर गुफाता संत पुकारो इब कहे इस ब्रह्म तो ऊपर चाला जो भंवर गुफा भंवर गुफा के बाद फिर बंदी छोड़कर लोग आ जाता है कहते हैं दो पर्वत के संद निहारो भंवर गुफाता संत पुकारो अंश कर तेजा केल अपारो ता गुरुवन दरबारा है शेष अठासी दीप रचाए रचाए हीरे पन्ने लाल जड़ाए मुरली बाद सदा अख, अखंड सदा है तो ता सोहम जनकारा है भंवर गुफा के अंदर सोहम यानी शब्द की आवाज हो रही है और सोहम जनकारा सोहम शब्द से जो आवाज होगी वैसे सरल सोहम नहीं है जैसे अब ढोल से और ढोल का डंडा मारांगे जो आवाज होगी वह असली आवाज से और ढोल का खोसड़े मारांगे तो वह आवाज नहीं देगी यानी उस नाम का सांस से उससे का जाप करेंगे तो वो वस्तु मिलेगी यानी वो नाम वही होगा तो यहाँ कहते हैं वहां सोहम की झनकार है सोहम नाम से जो वस्तु उत्पन्न जो धुन उत्पन्न होती है अब धुन क्या से धुन वो है जो उसमें धुन होती है जैसे एक ढोल एक डंडा उनसे जो चीज बनी वह उनकी असली आवाज ना तो ढोलता आनंद आवे और ना डंडे थे आद आनंद होगा तो उस तान बनेगी धुन तो वो सतनाम के जापते सार नाम के जापते जो वस्तु प्राप्त होगी बनेगी उसको सार शब्द कहते हैं उसको धुनात्मक शब्द कहते हैं अब नाम गलत लेके और वही जाप करेंगे उसी ढंग से करते रहेंगे तो आवाज वह नहीं बनेगी बनेगी जरूर अब जो और नाम जपते हैं कोई पांच कोई तीन कोई और ढंग के उन नामा तय भी आवाज बने से पर वाह नहीं बनेगी जो कि बंदी छोड़ दे रहे उस ढंग से बनेगी अब सारंगी ले ली और ने सही ढंग से तारत मिलाओगे आवाज जब भी बनेगी आंगली तो किसान लाग जाएंगे डीकड़े तो घिसावांगे जब भी आवाज बनेगी धुन है परंतु बीरा वाह नहीं से जो सही ढंग ते सही वस्तु के तो गलत नाम ते धुन हो सकती है पर वाह नहीं होगी वीरा जिसकी आप बंदी छोड़ बतावे तो जो कह दोनों मन ने भी सुने से इन दोनों ने तो डोब रखा सारा सौदा तो बंदी छोड़ की जो रास्ता भी कोई अलग एक समझ पावे सो हम हद तजी जब भाई सतलोक की हद पुन आई फिर सो हम हद यानी सोहम भी बंद हो जाएगा सतलोक नहीं पहुंचाता सोहम ये भी सत मान लेना वो सार नाम ले जाएगा आगे सो हम हद तजी जब भाई सतलोक की अदपुन आई उठत सुगद सदा अधिकाई महा अधिकाई जाको वार न पारा है कहते हैं सतलोक में जब पहुंच जाते हैं बहुत अच्छी सुगंध आती है जिसका वार नहीं पार है सोडस बानु हंस का रूपा एक हंस का वहां वातावरण दो से सोड़ा सूर्य जितना हो जाता है प्रकाश और बीणा धुन बाज्य अनुपा अंसा करत चंवर शर भूपा सत पुरुष दरबारा है कोटि भानु उदय जो होई ही पुन चंद खलोई पुरुष रोम सम एक न होई ऐसा पुरुष दरबारा है अब ध्यान से सुनो कहते हैं कोटि भानु उदय जो हुई करोड़ सूर्य उदय हो जा पर गर्मी ना हो और इतने ही पुन चंद्र खलोई इतने चांद करोड़ों चांद हो जा और फिर वह रोशनी दोनों की मिलकर जो बने महाराज कहें सतलोक के एक रूम के बराबर भी चांदना नहीं है ये विचार देखो बंदी छोड़ का नो कम भीतर प्रकाश दिखे से प्रकाश तो जीरो के बल्लभ का भी से प्रकाश शंकर भगवान का भी है ब्रह्मा जी का भी है विष्णु जी का भी गणेश जी का भी है माता का भी निरंजन का भी ये प्रकाश से नहीं जान दे किसका देख रहे हो तुम करते आगे अलख लोक है भाई अलख पुरुष की तह ठकुराई अरबन सोर रोम सम नाही ऐसा अलख निहारा है एक अग अलख पुरुष है अलख लोक है सतलोक तो ऊपर है और उसके एक रूम की जो शोभा है वो अरब सूर्यों जितनी है तापर अगम महल एक साजा अगम पुरुषता ही को राजा एक अगम लोक और से और उसकी खरब सूर्य जितनी रोशनी है और ऐसा अगम अपारा है वृत्ता पर अकेलोक है भाई पुरुष अनामी तहां रहा गरीबदास जी महाराज कहते हैं वहां है अब है अथ है आगे का भेद नहीं कहूंगा वो अवर्णनीय है और ये बंदी छोड़ कह रहे और जो पहुंचेगा जाने वाही कैन सुन से न्यारा है काया भेद अब अब बात सुन की से जो तोड़बंदी छोड़ यहां करें से भाई काया भेद किया निर्वारा ये सब रचनो पिंड मुझारा और भाई माया अवगत जाल पसारा सो कारीगर वारा है नो कहे ये सैतश बार असली तो और ये नोकी ने नकल इस माया ने तोड़ पाड़ दिया निरंजन ने अपने लोक में भी नोके नो बना रखे हैं यू अकलो सतलोक यू अगम अक, अलख लोक और यू अगम लोक अरयुबला नामी लोग ये चक्कर काटते हैं तो कहते हैं आदि माया किन्नी चतुराई और झूठी बाजी पेंड रचाई कति नकली बना रखी है और अवगत रचना रची पिंड माही ताका प्रतिबिंब डायरा है उसका जो का चो नक्शा बना रखे प्रतिबिंब समझो उसका प्रतिबिंब यानी उसका परछाई पर नक्शा समझो यहां पर के उसका जो का तो नक्शा बना लिया शब्द विहंगम चाल हमारी और कह कबीर सतगुर दी तारी और खुले कपाट शब्द जनकारी पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है यानी इस पिंड ते भी और अंडते भी और ब्रह्मंड ते भी पार वो लोग सतलोक हमारा है बोल बंदी छोड़ मारहा आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज रे आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे सतलोक से चले कर आए सतलोक से काटन जम की जंजीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर थारे दर्शन से मारे पाप कटते हैं थारे दर्शन कटते हैं निर्मल ओवज शरीर आज मुहे दर्शन दियो जी कबीर आज मुहे धीरे अमृत भोजन मारे सत गुरु जी मैं अमृत भोजन मारे मैं शब्द दूध की खीर आज मोहे दर्शन दियो पीर आज मोहे दर्शन दियो आइंदू के तुम देव कहा के तुम देव मुसलमान के पीर आज मुहे दर्शन दियो जे कबीर आज मुहे दोनों दिन में झगड़ा पड़ गया दोनों दिन का झगड़ा छड़ टोहे ना पाए शरीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज धर्म दास की अरज गोसाई धर्म दास की केवल गाइयो पर ले तीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज साही इतनी महिमा सुनकर धर्मदास ने कहो बंदी छोड़ आपने तो कमाल कर दिया अब सतगुरु महाराज धर्मदास को समझावे भाई समझ माई तरह कहानी के कि जिसने तुम भगवान समझो थे भगवान तीन तक पहुंच भी ना पाए अब कहते हैं सतगुरु साहब कबीर साहब के वचन सोन धर्मनी ये अम यम की बाजी चिन्हे जिन जाने ना पंडित काजी धर्मदास ये भाई काल का खेल से इतना लंबा चौड़ा इसने पंडित काजी बेचारे की समझ जो यम को देखो कितनी ईब समझ में आओगी महाराज की वाणी आपका जो यम को करता है तजे सुधा भाई नर विस्क चाखे जो निरंजन ने ब्रह्म ने भगवान समझता है वो इस प्रकार है जैसे अमृत ने छोड़ के और जहर खाता हो ये कबीर साहब की वाणी है जो यम को करता भाखे भगवान कहे और तजय सुधा नर विष के चाखे और चारों मिलिए रचना किन्या कच्चा रंग सो जीव कुंदिन्या धर्मदास जी कहते मेरे हंसा भाई हंस स्वरूप था जब तू आया और अपना स्वरूप भूल में बुला दिया इसने ताते जीव कहाया तो नहीं बेरा नहीं पटन गंदा हमारा तो नहीं हो रहा मेरी भैंस बीमार मेरा छोरा बीमार छोरा ना ला गया छोरी का छोरा ना होया मर गया रजिस्ट्री ना हुई आड़े तई उलझा रहा ख्या तेन ऊपर तीन दसो दीना देता जीव बना दिए हम अरण्यों के तीन चीज बिलाना दी है प्रकृति जीव और परमात्मा फिर मुक्ति की क्या जरूरत पड़ी क्या साधना की आवश्यकता भाई कर्म भी भोगने और चक्कर काटने लख चौरासी भोगने फिर क्या की खातर डाउडो हो सो भाई बंदी छोड़ के कि ठीक है हम जीव हैं और जीवते पीव बनाएंगे फिर नौके जीव तो ब्रह्म से बता भाई इब पानी ने बर्फ पानी से बर्फ बनेगी जब तक वह बर्फ से तो बर्फ है से भाई उन्होंने कहना जीव सब में है परमात्मा सब मनी सूर में भी गधे में भी सारा वो बात ठीक है ब्रह्म रूप है वो परंतु ब्रह्म नहीं है पानी से जल से बर्फ बन गई पर बर्फ है वो पानी नहीं है, है पानी भी मतलब उस ऊंची दृष्टि से देखेंगे तो जल है और उसकी मौजूदगी देखेंगे हाल का वर्ण देखेंगे बर्फ से भाई अब नो को बर्फ तो पानी है तो सब पी लेने फिर बर्फ ने जब तक पानी नहीं होलेगी चाहे मुंह में पिंगाड़ ले चाहे वैसे पर पानी पीकर पानी बनकर पानी का गुण देगी वह लाभ देगी इसी प्रकार जब तक हम जीव हैं हमने पीव बनना से गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि साहेब तेरी बंदगी ते जीव हो जा जगदीश फिर त्या बाणी गलत भाई अगर जीव जगदीश नहीं हो सकता जीव से पीव नहीं हो सकते तो बंदी छोड़ बाणी गलत कभी नहीं हो सकती इस वाणी ने गलत करनी पृथ्वी ब्रह्मंड में नहीं सको भी अनंत कोट ब्रह्मा हो लिए अनंत करोड़ हो ईस और बंदी छोड़ कबीर साहब साहेब तेरी बंदगी से हो जीव हो जा जगदीश यानी जीव से पीव बना कि नहीं बना यानी बंदी छोड़ दो बात कह वह सत से भाई अनादि इतने से इतना उसके तरीके का ना बेरा बर्फ तो पानी बनाया क्यों कर करें कते चारों मिलिए रचना किन्हा पांचों मिलिए रचना किन्हा कच्चा रंग सो जीव कुंदीना अब यहाँ चार लिखा है गरीबदास महाराज पांचा ने लें निरंजन भी गिले लेते हैं पर यहाँ पर कबीर साहब ने विजिबल जोश है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश माता इन चारों को ले लिया कि इन्होंने उड़ा दिया इस जीव को और साथ में जाने वाला असली है निरंजन पांचों तत् तीनों गुण जानो चौदह यमते ही संग पछाणो यही विध की नर की काया मारे खावे फिर बहुर उपजाया बनावे मारे खावे और फिर पैदा कर दे ये विध की नर की काया मारे खावे बहुर उपजाया ओंकार है वेद को मुला चारों वेद पढ़ ले ओम जाप इसकी जड़ से इसका असली मंत्र ओम से कति झूठ नहीं बोलते बंदी छोड़ और भाई ये भी सारे इन्हें कैसे कि ओम मंत्र तो बड्डा कोई नहीं तीन लोक का इक्कीस ब्रह्मतई का ओम जाप सर्वश्रेष्ठ है पर काल मुक्त ओम से नहीं हो सकते ओंकार है वेद वेद को मुल्ला वेद के मूल माने जड़ असली तत्व सार सार नाम तीन लोक का ओम से ओंकार है वेद को मूला ओंकार में सब जग भूला यही ओंकार निरंजन जानो पुरुष नाम सो गुप्त मानो यही ओंकार यू ही निरंजन समझो भाई यू ही काल से थारा ओम नाम ही काल है कहते यही ओंकार निरंजन जानो पुरुष नाम सो गुप्त मानो असली परमात्मा का सतपुरुष का नाम वो गुप्त है वो न्यारा है समर्ति शास्त्र पुराण बखाण्या समर्ति शास्त्र पुराण बखाण्या ताम सकल जीव उलझाना बखाना मैंने वर्णन किया इसी नाम का और इसमें सब जीव उलझाना भाई जीवों को ब्रह्मा भटकावे अलख निरंजन का ध्यान दृढ़ावे वेद मते सब जीव भ्रमाणे सतपुरुष को मुरम न जाने वेद के मत यानी अनुसार चल कर सब जीव उलझे पड़े से भाई और सतपुरुष का नाम भ्रम नहीं जानते यानी मरम नहीं जाने वस्तु नहीं जानते सतपुरुष कौन है निरंकार कसकीन पसारा सो चरित्र वो जो धर्मार धर्म धर्मदास निरंकार कसकीन तमाशा सो चरित्र वो जो धर्मदासा किस काल में निरंकार निराकार ब्रह्म सो तो, विजिबल नहीं है वो तो सर्वव्यापक से न सर्व सर्वव्यापक ने के तमाशा कर रखा यू सुन ले किस प्रकार असुर हो जीव जीवों को सतावे देव ऋषि मुनि कम और पुनधर अवतार रक्षत रक्षत और असुर करे संहार कम जीवों को दिखलाव लीला अपनी महिमा घनी और यही जान जीव यो बाघ यही जान जीवों को बांध के आशा कि यही है रक्षक धनी अंत काल भक्षण करे रक्षक कला दिखाए जब ही काल के मुख पड़े यो जीव बहुत पिस्तावे अब इस दोहे का आप विशेष ध्यान से सुनो जो कहे असुर हो जीवों को सतावे अब ब्रह्म रूप में सारे से अब पकड़िए इस बात ने ब्रह्म रूप में सब है राक्षस भी ब्रह्म रूप में है क्योंकि उसमें ब्रह्म से नोन तो ब्रह्म राक्षसा बना और फिर दूसरा अवतार धर लिया कंस बन गया नोन तो अवतार धर लिया विष्णु के माध्यम से कृष्ण का और कंस मार दिया पुतना मार दी और मार दिए तो नो कहे नो सोचे से भोले भाड़े जीव कृष्ण के सा भगवान नहीं मतलब आपने दो रूप बनाए राक्षस बना दिए उस काल ने और नोन तक तो कृष्ण जी संस्कार दिए मार का इसने यानी वहां अपनी शक्ति कृष्ण में दे दी विष्णु को भेज दिया और उसने वो मार दिया और मारे किसी ने सोचो हो, हो भगवान की चाड़ा से और ये सब किम कर देंगे मारा बंदी छोड़कर ठीक है तीन लोग तो ये काम ये कर सकते हैं आग गए इनका तो नहीं भाई देख सत्य मान लियो यहां कहा <clears throat> कि उधर से राक्षस बन जा बना दे है इन्होंने तो अपने करता अपने कहा जा उनको मारने वाला और ये भोले भाले जीव ने सोचे हैं भाई ये थारा रक्षक है ये थारा धनीश है और इसी की महिमा गाओ इसी के आश्रित हो जाओ न बोले ना असली परमात्मा सतपुरुष है उसका नाम जपोगे तो काल तो होगा तो यहां जगह सुभगत है तो न्यू बोला भाई या तुमने एक इसी बात लागी अब क्यों करे तो जाटू सा बोला है यानी एक किताब लिख रखी है हमने सतगुरु तेरी वाणी अमृत इसको छपवाएंगे ये सारी महिमा इसमें गा रखी तो जगासु भगत ने बोला भाई के यह बात तक मैं बिलाई डाल लागी क्यों करे कि एक मारे गांव में एक नाटक मंडली आई थी अकाछा क्यों करे उसमें दिखा था कि एक ठग पांच ठग थे पांच छह ठग थे और उन्हें देखा एक सेठ जा था पैदल चाल्या करते और अच्छा कुछ धर रहा था गठड़ी सर पर उन्हें सोची कि मैं नामा ले रहा होगा कि मैं पिछड़े के मैं तो होगा ये उसका गेल पाछे पाछे दूर तो लागे रे एक क्यों ठगा बेचार नहीं बना एक उनका समझ में आई न्यो करे एक जना जाकर उस सेठ की पोटली खोसण लाग जाए और हम आ जाएंगे आम तरह देंगे दो दड़ाक मार तो बाज जाइए बोला ठीक एक बिला बाजा गया और जाकर सेठ ने बोला भाई डट जाद नहीं छोड़ू इब सेठ भी तगड़ा था वो खेचम खेचा रहे इतना मागे हुआ चार पांच और उसके साथी उन आकर उसका दो दो मारे दड़ा करो डांक मारी बाज बुआ में बढ़ गया यानी फसल में और सेठ जी ने बड़ा शुक्रिया किया उनका ओ हो हो भाई तुमने भला हो रहा थरा मेरी तो जान बचा दी इसमें पांच सौ रुपये थे खुश हो बेटी के और ना बेरा था वो और पूछ लिया कहा इसमें पांच सौ रुपये थे अकाज ले जाओ बरा बेटा देखे मैं मर गया था कति बलाओ थारा थारे बच्चे जी मारा गिल नो बोला चिंता ना करे सेठ जी की जागा कि मैं जाऊंगा फलाने गांव में बहादुरगढ़ अकाम ने भी उड़े पहुंचना अच्छा भाई तो चाल पड़े रास्ते में पानी पी उनने भी फेरी सी पोटड़ी तैयार कर लिया अपनी कतीनो की नो हो वो ये पानी पीन लागे पानी पी के और लाला जी ने सोची भी इतने साथी से हैं तो साथ भाई हम सफर हैं इन के इन के चिंता पेशाब करने चले गया भीतर से ज्वार में कह पोटली उड़े दरी उन अपनी पोटली तो सेठ दो जगह दर दी उन सारी ठा ली ठा के चलते बने जाकर घर लाला जी ने ली जब देखा हर इसमें तो कुछ भी कोई नहीं मेरे बेटे ठगते हुए थे वो तो वो नाम नाम का था तो मतलब ये है कि नोकबंदी छोड़ की संत का ये निर्णय लिया उस जगह सुभगत ने नए ना अपना फैसला दिया कि वह मन त्यों लाग गया इस काल का खेल कि अपना तो एक नोन भेज दिया राक्षस और फिर उसने मारन चला गया और मारन जाए पाछे फिर उसने सेठ ने नो सोच ली आ, मतलब जीवन ने सोच ली यू खास आदमी है और ये फिर स्वर्ग में बैठा कर फिर ठगले हैं मतलब ये वर्णन इसका मतलब सारे छंद और वर्णन का अच्छा आगे है गुरु भक्त फिर बताओ भाई धर्मदास को कबीर साहब ने काल का भांडा फोड़ के धर दिया क्यों करे कि अड़सठ तीर्थ ब्रह्मा थाप्या और अक्रम क्रम पुन और पापा भी कार्तिक माघ पुन कह दीना यम की बाजी कोई बिरला चीना नो कह कार्तिक में नहा लेना पुणवासी वाला दिन गंगा में ओ हो बिलब नहाल हो जाएगा <laughs> कार्तिक माघ पुन कह दीना ब तीर्थ धाम का बाद बांध महात्म जावा नहीं भ्रम ना चीने आत्म सार ना आओ कोई ज्ञान नहीं होता ना ना आवेंगे पर मुक्ति का साधन नहीं पाप पुण्य में सब फंदावा और वैयावद जीव सब है उड़झावा सत शब्द बिन कोई ना कोई बच्चे ना ही सत शब्द सच्चे नाम बिना सत नाम बिना कोई बच्चे ना ही और सार शब्द बिन यम मुख जाही अब देवबंदी छोड़ भी ये प्रमाण दें कबीर साहब भी और गरीबदास कि सतनाम और फिर सार नाम सार शब्द ये सारी चीज मिलेंगी जब काल से बचेंगे सत शब्द बिन बाचे कोई बच्चे नाही सार शब्द बिन यम यानी काल के मुख में जाही लाभ लोभ जीव लाग जाई आस बांध के काल धर खाई अब लाभ लोभ सब गेल बाज लेंगे नो कहे फलाना साधु से एक बकड़ में थप्पड़ मारा था नो मौजा होंगी जा से <laughs> मतलब इसे इसे बना रखे क्यों बोला घर ठाठ हो जाए हो जाए ये सब कह की बात से पर आगे काल ना ये अपने भेज रखे भाई तुम तो इस प्रकार हम पूर्ण संत की शरण नहीं आवागे इतने भाई मुक्ति नहीं होगी यह चीज कड़वी नहीं लगनी चाहिए सच्चाई यथार्थ है और सच्चाई जितनी होगी उतनी कड़वी बना करे एक बह पर बाद में बहुत सत हो जाएगी सच्चाई मिठी होगी लाख जीव यमनित प्रति खाई एक लाख काल प्रतिदिन जीव खावस है लाख जीव यमनित प्रति खाई और महा अपरबल काल कसाई तपत सला निस्दिन तांजर ही तापर ले जीवों को धर ही एक तपतसला निरंजन के लोक में तपतसला प्रति दिन रात जड़ती रहती है और उन पर धर के जीवों ने भून कर काल खाता है और तापा पीछे योनिन भरमावे उड़ा तो नारा दुख दे और पाछे फिर बुद्धे कुत्ते सूर बनावे ता पीछे योनि भरमावे या विद नाना कष्ट दिखावे अब ये महाराज कहते हैं कि यू खेल स भाई इस कालते ही की खेल निरंजनता का अब इसने कोई समझनिया समझे तो इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं भाई फिर मन ने जब देखा कि ये जीव बहुत दुखी हो रहे से तपत से लाकर ऊपर जाके और वहां फिर ये रोन लाग गए बहुत बुरी तरह चलाव से तो हम वहां से चले वैसे ये रोन यहां ये कर रहे हैं कि सतपुरुष ने मुझे भेजा क्यों धर्मदास ने सीधा नु कह देना मैं सू तो कति नहीं मानो नु बोला फिर मेरा तय तो सतपुरुष ने आज्ञा दी तू जा भाई उड़ा हम्म और फिर मैं वहां पहुंच गया जहां पर वो काल जीव न भूमन लाग रहा था तपस्या जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे देखकर उन जीवों की सारी जलन खत्म होगी और नो बैठ गई तो जैसे शर्मा दर्द हो अच्छा कर डाते कितना प्यारा बैठा हो बोलना जी नहीं करे क्या बतलावागा तो जब कष्ट निवारण हुआ उनका तपत शिला की आंच नहीं रही महाराज की हैं कबीर साहब की तय सारे बैठे होगी और बैठ कर बोले महाराज आप कौन सो ने बोला मैं सतपुरुष हूं हे महाराज हमारे किसने बांध राखी हो अब थारे भगवान ने ये उसमें वेद वेद के जानने वाले भी तप के करने वाले भी तपस्वी भी और सभी जो गीता पढ़नी है भी तीर्थ घूमनी है भी सारे उड़े लौट रहे बोले भाई तम उड़ा तो मेरी गेल करो बैंस वहां मैंने कह दू ना कि भैया यो नाम नो जाप ठीक नहीं ये शास्त्र यहां तक ज्ञान दे से तुम मेरी बात मान लो वानी मानते तुम नो बोला महाराज मानना क्यों करे चार वेद छह शास्त्र अठारह पुराण ग्यारह उपनिष्ठ महाभारत गीता सबने एक निराकार ब्रह्म से आखिरी मतलब पहुंचाड़े योगी निराकार की उपासना कर बैठते और वो फिर भी काल के अधीन रहते तो बोला जी हम जाना कितना है एक पढ़ का अपना वेद शास्त्र पढ़ सकते हैं इनमें वाह चीज पावस है कहने बोला मैं कहूं जब तुमने को एक जुलाया सही तो ये तो कवि था और एक जो है ना <clears throat> ये तो भगत सा था इसने क्यों बेरा तो तुस्सा जीव था नो बोला जी के करा उड़ा तो आखे नहीं खुल दी नो ईब के बने तक हमने बचा लो अगीब काल आ गए तो हमने खाओ बीगा ने बोला हमने बचा लो नो बोला वह नो नहीं ईब बचा जरूर दो और मेरा नो भी मनमावस है कि सारे ढूंढ मैंने खो दो इसके ने मैं ये भी कर सकता हूं पर भाई पुरुष का वचन दिया हुआ सा यानी हमने इसको दे रखा है ढमढमा हम अपने वचन हारी हुआ सा पर हम ज्ञान देकर नाम देकर जीवन काट दे काट ले जाएंगे फिर यू नजदीक नहीं आओगे ऐसा सतगुण बता बहुविध जीव कीन पुकारा काल देते है कष्ट अपारा यम का कष्ट सहा ना जाई ये सतगुरु तुम हो सहाय फिर कहते हैं आए जहां यम जीव सतावे काल निरंजन जीव नचावे बंदी छोड़ कहते हैं धर्मदास में वहां आ गया उस तपच्छला के पास पे और चार चटक पटक कर जीव आई ठाड बहे पुनताम जाई कि वहां चटक पटक करे और तक छलावा जो खीर बना करे नो कूदे से उसमें अर नो का मैं वहां जा खड़ा हुआ फिर क्या हुआ तब हम मोहे देख जीव कीन पुकारा हे साहेब मोहे लेहू उभारा तब हम सत्य शब्द गौराया पुरुष शब्द से जीव तपत बुझाया अनुसार नाम का जाप किया और फिर उनकी जड़न बुझा दी कहते हैं यम तय छुटा ले तुम स्वामी दया करो प्रभु अंतरयामी निवले जी हम जीव हमने ए महाराज इस काल से हमें बचा लो तब मैं कहा जीवन समझाही भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई अगर मैं जबरदस्ती करूं तो मेरा वचन मेरा अपना दिया वचन नष्ट हो ऐसे मैं वचन भंग नहीं करना चाहता पर जब तुम वहां जाओगे ना मृत मंडल में मनुष्य जन्म किसे भगवान ने फिर मिल भी जाता मैं आऊंगा और मेरे नुमाइंदे संत होंगे उन नाम ले लियो तुम चुप करके विलाही बंदी छड़ ईब कह नहीं टड़ांगे अड़ांदे फेरने के मुसलमान के हमारा खुदा बड़ा हिंदू के हमारा राम बड़ा आड़े फेरोल जाके बैठा दे हेले फेर <laughs> उड़े जा खड़े होते हैं तो बंदी छड़ के हैं जब तुम जाय धरो जग देहा तब तुम करियो शब्द स्नेहा जब तुम मृत मंडल में जगत में जाकर दे ही पाओ मनुष्य की तब हमारे शब्द का प्रेम करियो जो मैं नाम दो विश्वास कीजिए पुरुष नाम सुमरण सैदाना बीरा सार कहो परवाना देह धरो सत शब्द समाई तब हम सतलोक ले जाई मनुष्य रूप पाकर तुम्हारे नाम न जाप करियो फिर हम सतलोक ले जाए फिर थारा काम खत्म पर रहियो मर्यादा में गुरु की प्रति पूर्ण विश्वास रखिए मेरे पे विश्वास रखिए मैं पार ले जाए जहां आशा तांबासा हो मन कर्म वचन सुमरियो सोई जहां आशा तांबासा हुई विष्णु जी की आस लगाओगे तो विष्णु लोक में जाएंगे ब्रह्मा जी का जाप करेंगे ब्रह्म लोक में जा ब्रह्मा के लोक में जाएंगे शंकर जिया का जाप करेंगे शंकर के लोक में जाएंगे तो जहां आशा ता बादशाह हुई हम आशा ला रहे सतलोक की तो हमने कौन रोक देगा नाम सही नाम से वो नहीं मेरे आशा में काम नहीं चल रहा तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि फिर वो कहने लगे महाराज जी आपके नाम में इसी के शक्ति है कबीरे जैसे फणपति मंत्र सुन भाई राख फण सकोड़े ऐसे बीरा नाम तै वो काल लव मुंह मोड़े नाम जो एक है और पाप जो रति हजारे रंचक घट में संतर है जार करे सब छार फूक कर राख कर देगा हमारा नाम वो शक्ति है सब पाप कर्मों को कोट कर्म कटे पलक में जय रंचक आवे नाम योग अनेक चाहे पुण्य करो भाई नहीं नाम बिन ठाम यानी ठकाना नहीं नाम के बिना गरीब कबीर सपने में बरडाहे के धोखे निक्स नाम जाके पग की पैंत पातरी और मेरे तन को चाम नाम जपणिए का जो कितनी महिमा की बंदी छोड़ने के कबीर धोखे में बिरडा के जय मुंह ते लकड़ जा नाम और भाई उसके पा की जूतिर मेरे तन का चाम यानी वो इतना पूजनीय हन संत है भगत है कि उसके लिए हम अपने शरीर की जुत्ती भी बनवा दो तो भी कम से यानी हमारे भगत आप दे, आपने देखा सपने में जैसे ही हमारे द्वारा संत भगत जी रहे हैं ना ये पाठ पर जाते हैं यानी लगातार हमने नून निबेरा महीने कह लिए रोज पाठ सत्संग करते हैं तो ये स्वप्न हमारे द्वारा होंगे ना स्वप्न में कहेंगे जय बंदी छोड़ जय बंदी छोड़ जय बंदी छोड़ तो वो स्वप्न में मंड रहे हैं जय बंदी छोड़ कर लाग रहे हैं और कोई नौका रब मंत्र कर लिए कि ना करो शू फिर सो जा है यानी इनके सपने में भी भगवान बंदी छोड़ के ही सपने चल रहे हैं तो ये पूजनीय हो चुके यानी स्वप्न इतना सपने में किस नाओगे जो रोज बजे और जो रोज नहीं बजता उसने तो भूता दिखेंगे <laughs> कदे नौका पड़ गया हूं लेट में कदे कहीं पहाड़ पद पड़ गया तुम निशा सपना आया कदे कहीं ऊँट में पड़ गया था बोझडा में थोड़ा ऊपर राख इसको ऊपर ऊपर राखी बेटा तो इस प्रकार महाराज कहें कबीर जाकी गांठ में नाम है ताके है सब सिद्धि कर जोड़े ठाडी सब असिधि नो निधि यही कबीर साहब गरीबदास जी कहे शब्द मैल में सिद्ध चौबीसा अंश छोड़ है विश्वे बीसा और जिसके पास यू सतनाम से सच्चा नाम से यू शब्द से उसके पास सारी सिद्धि से कबीरे नाम जपत कुष्टि भला चो चो पड़े जो चाह मैं कंचन दे किस काम की जामुख नाही नाम कहे कोडी भी अच्छा जो राम बचे और सुंदर काला के काम जो भगवान नहीं बचता कबीर नाम लिया तन सब लिया सकल वेद का वेद और बिना नाम नरक पैड़ा जो पढ़ता चारों वेद अब चारों वेद पढ़ ले रोम नाम जप ले तो भी गुजारा हो सकता है और महाराज के सही नाम और मिल जाए इसकी गिल्ला तो जुमा मोद हो जाए कबीर पारस रूपी नाम है लोहे रूपी संसारे पारस पाया पोष का परख परख टक कबीर जल जो प्यारा माछरी और लोभी प्यारा दाम माता प्यारा बाल का नो भगत प्यारा नाम जैसे मछली न जल प्यारा अरलो भाई दाम प्यारे और मान अपना बालक प्यारा इतना प्यारा भगत ने नाम होया करे जब उसका काम बना कबीर लेने को हरि नाम है सतनाम है देने को अनदान भाई करने को आधीनता और डूबण को अभिमान कबीर जैसे माया मन रम्या ऐसे नाम रमाये तारा मंडल वेद के है तब अमरापुर जाए यानी सब मंडल नद पार करके फिर सतलोक में जा जिस प्रकार मन आज माया जोड़ने में लाग रहा है अक भाई सब्जी रेडी भी ला लू दुकान भी खोल लू उड़ा भी चला जा है और भी सूत बैठ जा तो भी कमा लाऊ तो जिस प्रकार माया लूटन में जी मन ला रहा है भगवान की कमाई में लूट में नाम ला ले तो नो फिर सतलोक न जागा जैसे हमारे बच्चे हैं सेवा का भी जोटा मार जा पाठ भी कर जा कपड़े भी धो जा फर्श भी साफ कर दे रोटी भी पो जाए हमारी बाण है ये लूट कर और नाम भी बजे मतलब आरती भी कर जाए लिखी गेल असुर नमैणी भी कर जाती है और अपने कासन भी मान जे जा तो महाराज कहें ये वस्तु होती है जैसे माया मन रम्या ऐसे नाम रमा अरे तारा मंडल यानी निरंजन के लोक न पार करके फिर अमर अमरापुर में जा कबीर नाम बिना बेकाम है ये छप्पन कोट बिलास के इंद्रासन बैठी ओहो बेके बैकुंठ विनिवास नाम बिना कोई काम नहीं चाहे इंद्रपति सुरपति बन जा और चाहे स्वर्ग में जा ले कबीर नाम जपत कबीर लोट सके तो लूटे ले सतनाम की लोहोटे पीछे ही पछतावेगा जब प्राण जहांगे छूटे कबीर नाम जपत दारिद्र भला टूटी घर की छाने कंचन मैल जार दे जा गुरु भक्ति ना जान के भगत तो टूटी छान वाला भी बढ़िया और जहां ईश्वर की चर्चा सत्संग नहीं होते उस सोने के मैल कभी आग ला दे हमना नहीं चाहिए ये बंदी छोड़ कहते हैं कबीर नाम पीव का छाड़े कर जो करे आन का जाहा पे बैसा केरा पूत जो वो कहे कौन कू पे यानी अपने पति सतपुरुष का पिता का नाम छोड़ के और किसे का नाम जप लेने कह वैश्या का लड़का हो जा किसने बाप कह कौन उसका जिम्मेवार होगा तीन लोग ताई के तो अपने लोक में बिठा कर उल्टे फेर भेज दें और सही ठिकाना सतगुरु महाराज देता कबीर कबीर सतगुरु के सत्संग में बात चलावे ऊरे तिस अपराधी जीव को तीन लोक कित ठोरे कबीर आद नाम निज मूल है और मंत्र सब डारे कह कबीर निज नाम बिना यो डूब मरिया संसार इस एक दोहे में कितनी गहराई ले गए बंदी छोड़ आदि नाम आदि कहें जो शुरू का से जो सही नाम से आदि मैंने जब से सृष्टि रची वही नाम ब्रह्मा का है वही विष्णु का वही शंकर का जो ये हम ना भी बताए थे आपको ये नाम आदि नाम इन देवताओं के और सतपुरुष का भी आदि नाम है जो सदा तो चला रहा है आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार और सब नाम छोड़ दे विष्णु के सेंसर नाम की जरूरत नहीं है एक हरियम जाप गुरु से ले पूरे तय ओ जप ले इसी प्रकार सतलोक के सतपुरुष के एक नाम से और छत्तीस नाम धर्म तक सतलोक नहीं जा सकते वो आदि नाम से वो मंत्र जपले और मंत्र सब डार और कह कबीर उस निज नाम बिना यू डूब मेरा संसार सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती गरीब एक नाम को जाने करे दूजा दे बहाय तीर्थ व्रत जप तपना ही सतगुर शरण समाय तो इस प्रकार सारी महिमा गा के बंदी छोड़ उन भोले भाड़े जीवों को समझाते हैं कि भाई मेरे नाम में बहुत बड़ी शक्ति है और तम ये नाम जब लगा जब मृतलोक में मनुष्य दे धार लोगे तो ईब आपको बंदी छोड़ने फिर संभाल लिया भाई ईब हिम्मत ना हारियो अपने इष्ट पर लगे रहना अब कहते हैं ये जीव सारे ने बोले कह जीव सुन पुरुष पुराना दे धर्म बेसरो नहीं ज्ञाना पुरुष जान सुमरा जमराई वेद पुराण पुराण सब कह समझाई ने बोले महाराज ईब का दे मिल गई ना मनुष्य की फिर आपका ज्ञान नहीं भूलांगे और ने कहे पुरुष ज्ञान यानी सतपुरुष को जान का हमने काल जपया कुल का मालिक एक समझ के हमने निरंजन जप लिया और जपना था सतपुरुष के पुरुष जान सुमरा जमराई वेद पुराण कहे समझाई अकी ये सारी यही तो बताओ से जी कि यू ये जप ले भाई वेद पुराण कह मती एहा निरंकार से लाले नेहा कि ये सारे शास्त्र ने हम आखिरी जो सही उपासक होगा निराकार के निर्गुण उपासना कर ले भाई कि निरा सभी चारों पुराण अठारह पुराण वेद सब कुछ निवे कैसे कि उस निरंकार तय लाले नेहा उसकी भजन कर ले स्वर नर मुनिजन तैतीस करोड़ी बंदे सब निरंजन डोरी तैतीस करोड़ देवता अठासी हजार ऋषि और ये तीनों लोग देवता भी कहते काल की डोर के बंदरे से भाई ताकि मते कीन हम आशा अब मोए चीन पड़ाई फांसा वो जीव जो वहां दुख पा रही थी विनो कह जी ये सब उसी की उसी के मते पर यानी शास्त्रों के आधार पर ही नाम जप रहे हैं ईब ने बेरा पर टैके कुक्रम दे लिया था सुनो जीव ये छल यम केरा ये यम की ये यम किन्या फंद का नेरा इस काल में बहुत कुसूता उलझेड़ा गिर रखा सी कहते काल कला अनेक कीने जीवन कारण जीवा कारण ठाठ हो वेद शास्त्र प्राण समर्ति अंतर रोक बाट वो बाट के राह आखिर में बंद कर देती तो जीव पड़े बस काल के काल काल चंड प्रचंड सतनाम चीने बिना जन्म जन्म भव दंडे गुप्त वस्तु पर को दीनी नाम विधे मुक्ति कर दीनी दीनो पान परवाना हाथा संधि छाप मोह सौंपया ना था कहते हैं कि जब सतलोक से आया धर्मदास मेरे को बंदी छोड़ कबीर साहेब ने न सतपुरुष ने एक गुप्त नाम असली नाम दिया और बोला यू जिस ताई दे देगा उसने काल नहीं छेड़ेगा बिन रसना से शोधन होई गुप्त नाम ते लख पावे कोई बिना रसना के शोधन होई बिना जीव के जपा जाप जो जपया जाता है वो महाराज कहते हैं कबीर साहब कि वो असली नाम से और वो बिना रसना के बिना जीव के जपया जाता है पांच अमी मुक्ति का मूला ताते मिटे गर्भ अस्थूला बिन पांच अमे मुक्ति का मूला ताते मिटे गर्भ अस्थूला फिर कहते हैं यही विधि नाम रहे गहे सोहंसा तारो तास के कोत्र वंशा अब ये जो नाम मैं दिए हैं महाराज कहते हैं ये सारे नाम आपके जो अस्थूल शरीर को खत्म कर देंगे और उसके बाद जो निज नाम से वो आपके इस सूक्ष्म शरीर को भी नौ तत्व को भी पार करके सतलोक ले जाएगा नाम डोर गहो गह लोक जाई यम धर्म राय ते ही देख डराई इस नाम की डोरी लेकर तम चालो भाई फिर धर्म राय लो काल इसको देख कर डर जाता है ज्ञानी करोशिस ज्ञानी करोशिस जाय जे ही जाही तिनका तोरो जल अमचाई जी विद तीन ने हम तुमको पाना ये विद देहु सैदाना हम तुम में अंतर नाही जैसे तरंग माही समाही हम तुम हम तुमको जो दो कर जाना ता घट यम बस कर है थाना अब बंदी छोड़े का बात में कितनी गहराई बता गे कि जिस प्रकार सतपुरुष ने बोला कि मैंने तेरे को नाम दिया कबीर साहब अपने दो रोल कर रहे हैं इसी प्रकार तू जाकर मृत लोग के जीवन दे दे और फिर उन्होंने बता दिया कि तेरे में मेरे में कोई दूसरी भाव समझेगा यानी गुरु में और सतपुरुष में अगर कोई दूसरा भाव समझता है तो वो कहे उसके गट में फिर काल बैठ जागा के महाराज कहते हैं कबीर गुरु मानस कर जानते व नर कहीं अंध और महादुखी संसार में फिर आगयम के फंद तो इस प्रकार आगे बहुत लंबा वर्णन से अब समझाने के लिए तो इतना ही काफी है कि सतगुरु महाराज ने तो आगे फिर बहुत लंबा वर्क दिया है कि फिर काल कीर महाराज की आपस में मेल होता है तो काल आता है वहां पर आकर के जब कबीर साहब उन जीवों के पास खड़े थे ना आकर ने बोला तो मेरे लोक में किसा आ गया अरे नो चढ़ा ली वहां अकीब समारूंगा तने उड़त में काट दिया था आपने कबीर साहब वो काल निरंजन कैसे तो कबीर साहब ने बोले मैंने अपना जो है सार शब्द छोड़ दिया उसके ऊपर यानी सार शब्द सुमरण किया सुमरण करते हुए मूर्छित हो गया काल नीचा अपना पढ़ के फिर वो बेहोश हो जाता फिर मैं होश में लिया फिर खड़ा होकर कापड़ लाग गया घबरा गया फिर उसने पा पकड़ दिए मेरे ने बोले आप मेरे मेरे बड़े भाई मैं आपका छोटा मन मक्समा कर दो देखो आपने तो जो है ना कि महाराज सहज रूप में आए थे सहज दास उनका एक पुत्र है खुद कबीर सतपुरुष सहज का रूप बना कर आगे तेने बोले आप मेरा बड़ा भाई मैं आपका छोटा मैंने माफ कर दो तो बोला भाई माफ तो कर दूंगा तेने बोला जी कित जाओ सो अकमृत लोग अच्छा जी महाराज जी मैं आपका बच्चा पां दाबे और खूब ओके दो एक मेरे एक जो इतना राज तो पुरुष ने दे दिया थोड़ा सा काम आप भी कर दो अक्के अक बचन भर लो वचन भर लिए अकबर लिए भाई न्यो बोला जी के चारों युगों में तीन युगा में जीव थोड़े ले जाना सतयुग त्रेता और द्वापर और चौथा युग जब आवे कल युग कितने ले जाइयो न्यू बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया अच्छा भाई कोई बात नहीं दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकू मैंने यह आज्ञा दे दो अग बना लिए तेरे रूप तक के आंट लागेगी मेरे अंश के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे तो फिर और एक और कहा कि आप जब जाओ ना मृत मंडल में तो एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाइयो क्योंकि वो काल समुन्द्र नहीं बन देगा मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा कृष्ण बौद्ध रूप में और अपना मंदिर बनवाओगा पर समुन्द्र नहीं बन देगा बनवा दूंगा भाई फिर कहते हैं कि त्रेता युग में समुन्द्र पर पुल बंधवाइयो अच्छे पंगे पाए रहते ना थे दिया काम कर दिया अला अच्छा लियो भी करांगे अब इस बात ने आप पकड़ोगे ना आपने लागेंगी झूठ सी पर होंगी सत सी इस प्रकार फिर न बोला जी मैंने नाम बता दो ना जिस तरह आप हाँ, उन्हें दोगे ना मैं उन्हें छोड़ दे दूंगा बोला ना ईसा बोला कौन मैं ये सारी कौन बताऊं हाँ ये ईसा जान ना समझा मैंने नो बोला जी मैं नो है ना आप नाम बता दो जो सर दिया करोगे मैं उन छेड़ूंगा कौन नहीं ने बिलाना याद अतना बतांदा कौन नहीं ने और बाकी यो है भाई क्यों तो किरा के चला के बैठ जा जो बोला जी जाओ बेशक मृत मंडल में के करोगे आके अपना नाम पुकार के और एक रास्ता बताऊंगा पंथ चलाऊंगा एक अपना कबीर पंथ से ने बोला जी आप एक चलाओगे ना मैं बारह नकली चला दूंगा आपके तो बाणी कहेंगे और आपके गीत गाया करेंगे पर नाम वो नहीं देंगे जो आप दोगे वाणी आपकी होंगी नाम उनके घर के होंगे और फिर सारे मेरे दोहराया करेंगे और गीत आया करेंगे आपके और कोई नो नहीं समझ पाओगा कबीर का पंथ कौन सा कबीर साहब का असली आज आप देख लो सब पंथाम जाओ जब कोई भी इस नाम का लो जानता हो जो कबीर साहब ने धर्मदास को दिया जब खुद भगवान कहूं तो कबीर साहब को पूरा मानते हुए कि जो मार्ग चला कबीर साहब ने चला उसने पहला कोई भी सत सतलोक के बारे में नहीं जाना था और फिर उधर से नौके ना नाम कोई जप लो अब बीज के में बो दो <laughs> आम खातर तो आंब का बोना पड़ेगा बाजरा ज्वार चाहिए गेहूं चाहिए हम गेहूं में बोने पड़ेंगे नो कम में बो दो कणक तो हो जाएगी हद कर दी भाई तो इसी प्रकार कहते हैं कि हम अपना नाम जो है ना चलाएंगे और बोला मैं आपके नाम से बारह पंच चला दूंगा और नाम आपका लेंगे और कोई नहीं समझ पाओगा तो कबीर साहब ने बोले कि जो मेरी बात ने सुन लेगा काल तेरी गलवा नहीं जागा यथार्थ बात सत मार्ग जिसके समझ में आ गया फिर तेराली बात कति फीकी लागेगी सुने भी नहीं गा तेरी बात तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज ने उसको काल को कहकर चाल पड़े नो कह मैं काशी में आ गया सबसे पहले काशी में आया तो प्रगट हुए बंदी छोड़ जिसते विनो को भाई ये वेद और पुराण ठीक से जहां तक ये ज्ञान दे से वहां तक तो सत्य है पर बीरा पूर्ण मुक्ति को ना मेरा शर्पा है जुमसन छेड़ू वो चार शास्त्र लिया काट के यू पुराण देख या गीता देख यू महाभारत दरीर ये पुराण ये कुरान तो बोला भाई ठीक से ना मानो तो मैं खेस समझाता रहते नहीं टेक मानते लगे रहो फिर कहते हैं कि मैंने अपनी वाणी को उन संतों से कर, मतलब तीर्थों पर जाना शुरू किया जहां पर ये भोड़ी भाड़ी पुण्यात्मा ईश्वर को चाहने वाली जाती है तो वहां मैं पहुंचा वहां मेरे को धर्मदास तो मिला भाई अखा हाँ जी मिला के मन ने चाड़ा पड़ा था आप गिला कि सज्जम मान गया था तो इस प्रकार धर्मदास और कबीर साहब की वार्ता हम कल सुनाएंगे आपको और उस वार्ता को सुनकर आप यथार्थता को पाओगे तो इस प्रकार धर्मदास को समझाया और कल हम आपको बंदी छोड़ की बाणी सुनाओगे अब एक शब्द सुनाते हैं धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वा धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा ले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की अड़े दन दन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मेटा रहे नल नील जतन कर आर्य तब सतगुरु से करी पुकार रहे नल नील जतन आर तब सतगुरु से कही पुकार जा सत रेखा लखी अपार सिंधु पैसलात राणे आड़ जा सत रेखा लखी अपार सिंधु पैसलात राणे दन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मट हे धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा भगत की पीढ़ मिटाने वाले भगत की पीढ़ मिटाने दे धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ में दसी सरपन जब जा पुकारी इंदर मती अकोड़ा डसी सरपन जब जा पुकारी इंद्रमती अकोड़ा आपने तुरंत करी सहाय बरोली मंत्र सुनाने आपने तुरंत करी सहाय बैरोली मंत्र सुनाने आले धन धन सत गुरु सत कबीर हरे धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा हरे भगत की पीड़ मिटाने आले भगत की धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ दामोदर सेठ के होवत अकाज अरज करी डूबता देख जवाज दामोदर सेठ के ओवच आकाज अरज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंगाने आ लाज मेरी रखियो ग्रीव नवाज समुंदर से पार लंगाने धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने हरे धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीढ़ मिटाने वाले भगत मिटाने वाले धन धन सत गुरु सत कबीर भगत के कह धर्म दास कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूरण की जो आस कह कर जोड़ दीन दास दरस दे पूरण की जो आस मेट दो जन्म मरण की तेरा से सत्य पद प्राप्त कराने वा बेटियो जन्म मरण की तरास सत पद प्राप्त कराने वा धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मटाने वाले धन धन सत गुरु सत कबीर पीड़ मटाने वाले भगत की पीर मटाने वाले भगत पीर मटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत पीर मटाने वाले सत साही